संत समागम समन लाभ कछुवा बिनु हरि कृपा न होहि सो वे धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अगन गरीसा पर हित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई पर हित बस जिनके मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ कछुनाही साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विसद गुण मैं फल जासु जो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा वंदनीय जय जग जस पावा अग किप सुनता सम कछुआना धर्म की दया सरस हरि जाना निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल क्षेत्र भावा उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देख जगत के सन करही विरोध